जाई कपिन सो तो देखा बैसा आहुति दे तरु धीरयरु भैसा कपिन किन् कपिन जब यज्ञ विधंसा जब न उठहीं तब करहीं प्रशंसा तदपि न उठये धरणी कच जाए लातन हति हति चले पराए लय त्रिशूल धावा कपि भागे आए जहरा मानुज आगे वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उनकी प्रशंसा करने लगे इतने पर भी वह न उठा तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग भाग चले वह त्रिशूल लेकर दौड़ा तब वानर भागे और वहाँ आ गए जहाँ आगे लक्ष्मण जी खड़े थे आवा परम क्रोध कर मा गर्ज घोरव बारहि बारं कोपि धाये त्रिशूल उर गिराय प्रभु कः से शूल प्रचण्डा सरहति कृतयनंत युग कृतयनन्तयुगखण्डा उठ बहोरी मारुति जब जिबराजा हतहि कोपितहि घाऊ न बाजा वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा मारुति हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे पर उसे चोट न लगी हीरे वीर रिपु मरहि धावा धावी घोर चिकाराम आवत देखे क्रुद्ध जनु काला छाड़े छाडे विसिख देख सि आवत पवि बाना तुरत भयउ खल अंतरधाना विविध बेस धरे करय लराए कबहु कप्रगट कबहु दूर जाए शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिग्घाड़ करके दौड़ा उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया और फिर भाच भाच के रूप धारण करके युद्ध करने लगा वह कभी प्रकट होता था और कभी छिव जाता था देखी अजय रिपु डर पे की शाम परम क्रोध तब भयउ अहिसा लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा यही पापी मैं बहुत खिलावा सुमिर कोशलाधीश प्रतापा सरसंधान किन्न करिदाप छाड़ा बाण छाड़ा बाण माझवूर लागा मरती बार कपट सब त्यागा शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेला चुका अब और अधिक खेलाना अच्छा नहीं अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया रामानुज कह राम कह अस कही छाड़ सि प्राण धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं राम कहाँ हैं ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए अंगद और हनुमान कहने लगे तेरी माता धन्य है धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया